गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले और जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मिसकीन को खाना खिलाकर रोजे का फिदिया अदा करते इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है